ही विराजमान मानते हैं सूर्य को न आविशा क्योंकि हमको सुंदर सुख देने वाले आप ही हो तो कृपा करके हमको आप आवेशा करो जिससे हम लोग अविद्या अंकार से सुख और विद्या सूर्य को प्राप्त होकर आनंदित हो प्राप्त कर माताओं मंत्र से प्रेरणा वेद मंत्रों के शब्दों को हम सुनते हैं फिर उनके अर्थ को हम सुनते हैं बार बार सुनने से बार बार विचार करने से वे शब्द और उनका अर्थ है व्यक्ति के जीवन का अंग बन जाता है यदि विशुद्ध रूप में शब्द अर्थ है संबंध है सुना जाता है तो उस शब्दार संबंध के व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है व्यक्ति बदलता है यदि अशुद्ध रूप में सुना जाता है तो ठीक विपरीत व्यक्ति का जीवन बदलता है और वो बिगड़ जाता है सोम ईश्वर का नाम सोम है शोध का इनकार उत्पादक उत्पन्न करने वाला ईश्वर समस्त विश्व को उत्पन्न करता है इस विश्व को उत्पन्न करता है और प्रलय काल में इसको बिगाड़ देता है नष्ट कर देता है ईश्वर विश्व को उत्पन्न करता है और फिर इसको बिगाड़ देता है इतने ज्ञान से व्यक्ति के जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है बहुत विस्तृत है ये जो व्यक्ति उत्पन्न होकर के संसार में रहता बड़ा होता धीरे धीरे इस व्यक्ति को ये विद्या नहीं सुनाई जाती तो ईश्वर के बनाए पदार्थों को अपना मान करके वो व्यक्ति जीवन को खो बैठता है यदि व्यक्ति का दिमाग ये है कि ईश्वर ने सारी चीजें बनाई हैं ईश्वर इसको बिगाड़ता है मैं इसका प्रयोग करता हूं तो वो दोष नहीं आते मुझे

भी सारे हैं मुझे को तो यकीन आया तह करके ताक पर रख दी भक्ति की सभी किताबें तय करके ताक पर रख दी भक्ति की सभी दिया खून पिया निर्बल का या विष की बड़ी शराबे या खून पिया निर्बल का या विष की भरी प्रभु नाम राम के अमृत रस का एक जाम ने पीना आया प्रभु नाम के अमृत रस का एक निर्बल गरीब तड़पा भी पर दया सिंह दीना निर्बल करी बतड़ पाली पर दया तेरी पत्थर का किया कले से हो गया सीना पत्थर का किया कलीजा से सीना सीने से सीना निकली और जख्म न सीना आया सीने से सीना निकली और जखम न सीना तूं मोर पपया पन कर पी पी न कभी पुकारा तूं मोर पपया पन कर पी वर्षा ऋतु सत्संग में मन दो कर नहीं निखारा तूने वर्षा ऋतु सत्संग में मन दो कर नहीं कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आज निजान के चक्कर ने यो चक्कर में चकर ने यो चकर में डाला इस जीवन की तख्ती पर सौ बार सवाल निकाला इस जीवन की तख्ती ही निकला एक बार सही न आया हर बार गलत ही निकला एक बार सही यह पाप पुण्य का पुण्य का लेखा प्रभु ने देखा पाया न था सिर से पैरों तक तेरा जीवन निकला काला न था सिर से पैरों तक तेरा जीवन निकला काला सब पुण्य पड़ गए पीले पापों का पसीना आया सब पुण्य पड़ गए पीले पापों का पसीना आया युग युग से जीव भटकता पर चैन कभी न पाया युग युग से भटकता पर चैन कभी न पाया इसलिए के साथ हम विचार करें और सुनें